जन्नत की मिसाल जिसका मुतकियों से वादा किया गया है उसके नीचे नहरें बह रही हैं उसका फल और उसका साया दायमी है ये उन लोगों का अंजाम है जो मुतकी बने और काफिरों का अंजाम आग है